सत्यम निचय वंद्य है ते त्रिसकोटि देवगण ते त्रिसकोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे जग जगकल्याणक यज्ञ में जगकल्याणक यज्ञ में मंग मङ्गलमय दो आशिषम् मङ्गलमय दो आशिषम् सिद्धस्वरूपी मूर्तमो सिद्धस्वरूपी मो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सदबुद्धि हो व्यवहार સદબુદ્ધિઓ નિશ્ચય મે અભિવૃદ્ધિ દો નિશ્ચય મે અભિવૃદ્ધિ सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सच्चिदानन्द जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद भक्ति सुख संचयन पद नंबर चौराणु मुक्ति सुख संचयन पद नंबर चौराणु के वड़ प्रेमनी जीवती मूर्ति जीवति मूर्ति ज्ञानी पुरुषनि करुणाने समता ज्ञानी ने करुणा ने समता भागीला अहम था बड़ी वहाल थी थी भागे लाने सजीवन करता मन थी भागे लाने सजीवन करता सादी शैली परमार्थे वाणी साधि शैली मा परमार्थे वाणी आत्मार्थे लक्षे दिसना देता विचरता जग उपकाराय नादा विचरता जग उपकाराय गुरु छता जम रहता गुरु चताए शिष्य जम रहता आत्माने स्पर से ली चैतन्यवाणी કૃત પડળ આવરણ પ્રાકૃત પડળ લૌકિક ભાષાથી તદન જુદી एक शब्दोमा अद्भुत वचन बर एक एक शब्दोमा अद्भुत वचन बर कलियुग गेरे बे બેઠા તપ છે ઘેરે બેઠા તપ છે વર વહુના મનમાં બેદી કુસંગ છે બાપો સામે દીકરાનું રણ યુદ્ધ મા બાપો સામે દીકરાનું રણયુદ્ધ જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ ગત ભાવ હિસાબે बमरड़ा फरता गत भाव हिसाबे बमरड़ा फरता हिसाबो गुचवीने बेवड़ा उछड़ता हिसाबो गुचवीने बेवड़ा उछड़ता भ्रांति मारमता बेदज बुद्धिना उसने माने पोताना परमाणु रसने દેખે કોઈનું અવળુયા દેખે ભરેલો માલ જ નીકળે છે કહેતા किचन दृष्टि थी भ्रांति ओ गाड़ी देता दृष्टि समाजे शक्ति खुटती लागी जय नामाजे शक्ति खुटती लागी मा पर માટી જ દેતા વિધિમાં પરમાણુ છાટી જ દેતા ખોખાના સ્પંદનો ભસમ થાશે થાશે આમ જ મૂંગી આશીષો દેતા सो जो सो जो कोई ना खो खाना दो सो जो सो जो कोई ना ते थी तो सामाना બગડે છે મોડા તેથી તો સામાના બગડે છે મોડા ખોખું તો સહુનું બળવાનું એક દી જોતા મન બુદ્ધિ ચિતને અહમ નાગ્ને મન બુદ્ધિ ચિતને અહમ નાગ્ને જો જાણે છે તે જ જ્ઞાનાત્મા જોઈ જાણે છે તે જ જ્ઞાનાત્મા કાયાનું ઠીટરને મનની ફિલ્મોના કાયાનું થિયેટરને મનની ફિલ્મોના પ્રેક્ષક નિરીક્ષક અક્રમ મહાત્મા ચરણના રૂપ લાગને અંતસ્કરણના રૂપ લાગને મૂળ દશામાં जो आज नोता मूड दशामा जो याज नोता परमाणु मात्र पार की था पर की थापना रूपी पर पोटे स्वरूपी नौखा रूपी पर पोटे स्वरूपी नौखा आना पैसाने समय खर्ची पोताना पैसाने समय खर्ची सत संग देवा जाता दादा जी सता संग देवा जाता दादा जी आपड़ी भूलोनी मागी ले माफी करता परमात्मानी पुरुषनी करुणाने समता ज्ञानी पुरुषनी करुणाने समता जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पासी महात्माओं की विनंती आई है कि एक दिन हमें दो तो सोमवार का अपना संगपति हरीश भाई साहब बोलते हैं सोमवार रखो गुरुवार गुजरात का हुँ? हम्म? हिंदी भाषी बेल्ट बहुत बड़ा है और सुनीता बहन सुनती होगी और अपने बेंगलोर में कौन कौन पदमचंद जी सुनते होंगे दिनेश सुनता होगा और राकेश ने ऐसा दिया है ना तो वो भी सुनते होंगे उनके पास होगा वो वो तो बहुत इंटरेस्ट हुआ इसको वो प्रोफेसर शानबाग शेषन पद्मनाभ पद्मनाभ પદ્મનાભ શેષન ડૉક્ટર પદ્મનાભ શેષન બધાને જોઈએ सबको जरूर है ये ज्ञान की ज्ञान क्या है कि हम बाहर से नॉलेज इकट्ठा करने के लिए बाहर घूमते हैं वो ज्ञान नहीं है ज्ञान तो खुद का स्वभाव है जो ज्ञान खुद को जानता है वही ज्ञान है और जो खुद को जानता है सभी को जान लेता है वो सीधा सिद्धांत है लेकिन ये कलयुग में ये सिद्धांत हर एक के जीवन में वैयक्तिक स्वरूप से परिणमन हो सके इसके कारण उसकी वैज्ञानिक समझ की जरूर है वैज्ञानिक समझ की कौन सी तो कि धर्म की कौन सा धर्म तो कि ज्ञान धर्म तो क्या हम जो ये धर्म मनाते हैं वो ज्ञान धर्म नहीं है नहीं वो क्रिया धर्म है क्रिया कांड का आ गए आप कब आए अच्छा ठीक है क्रिया कांड का धर्म है ज्ञान कांड का धर्म उसे ही विज्ञान और वैज्ञानिक समझ देने वाला वो विज्ञान बोलते हैं जो धर्म विज्ञान युक्त है वही सही धर्म है और वो अपना खुद का धर्म है और हमारे साथ जो शरीर है वो तो सभी शास्त्रों में बताया है सब जानते हैं कि शरीर नहीं है वो तो भारत में तो सब लोग जानते हैं फिर भी मा, माना नहीं जाता किसी से माना नहीं जाता अच्छे अच्छे बड़े विचारकों शास्त्र ज्ञानियों पंडितों कोई भी हो किसी को माना नहीं जाएगा उनका माना हुआ क्या होगा कि जो हम इससे मुक्ति पावे इसीलिए हम एक क्रिया से सब करें क्रिया से हमेरा ईगोइज्म कैसा माइल्ड होता जाए ऐसा करे लेकिन ईगोइज्म का स्वभाव है ऐसा आसानी से माइल्ड होने वाला नहीं है जैसी विद्वत्ता बढ़ती है वैसी ईगोइंग की शक्ति भी बढ़ती है लेकिन वो सूक्ष्मता में जाती है बिल्कुल सूक्ष्मता में और सूक्ष्मता में जो ईगोइज़म गया वो निकलना बहुत कठिन है बहुत कठिन है जितना पैदा छोटा है तो उसको नर्सिंग करके बड़ा करना आसान है लेकिन बड़ा हो गया उसके भी से तकलीफ है बहुत तकलीफ है इसीलिए दादा भगवान ने आज एक कलयुग में हमें सत्युग की समझ अच्छी ढंग से कलयुग का जीवन में मिले उसके कारण हमने कई कई सीधे साधे रास्ते बताए हैं उसकी समझ दी है वो सब विज्ञान स्वरूप है और वही सही धर्म स्वरूप है तो आज तो हिंदी वाला कोई आया ही नहीं है आपको आप बोलो आप आप उनकी जगह लो आपने अभी कहा आपने अभी बताया कि दादा भगवान की सतयुग की समझ बहुत इस कलयुग में बहुत अच्छी तरह सरल उसमें तो दादाजी सतयुग की दादा भगवान की समझ इस कलयुग में सबसे बड़ी कौन सी समझ वो सबसे बड़ी समझ ये है कि कलयुग ये सारा नेगेटिविटी एटीट्यूड से जीने वाला जीवन का सबका धर्म है धर्म पालते हैं लेकिन नेगेटिविटी खुद नहीं करते हैं लेकिन आज का कलयुग के कारण ये काल का प्रभाव है उसके कारण सभी के जीवन में वो काम करती ही रहती है हमेशा करती रहती है लोग लाख प्रयत्न करें कि पॉजिटिव जीना है लेकिन वो इतना जी नहीं सकते जितना उन्हें इच्छा है उसकी चाहना है क्यों कि नेगेटिव फोर्सेस का बहुत बढ़ाव है बहुत बड़ा है अच्छे अच्छे सात्विक प्रकृति हो तो हर एक प्रकृति के अनुसार होता है नेगेटिव फोर्सेस सात्विक होगा तो सात्विक के अनुसार होगा राजसी होगी तो राजसी के अनुसार और तामसी होगी तो तामसी अनुसार प्रकृति अनुसार होता ही है लेकिन प्रकृति प्रकृति ही है प्रकृति हम नहीं है यही प्रकृति को समझने का विज्ञान है ये आज दादा भगवान के माध्यम से जो खुला हुआ जिसको अक्रम विज्ञान बोलते हैं अर्थात अंतर का जीवन का विज्ञान शरीर के अंदर का सही जीवन अंदर का जीवन है अंदर का अंदर का हम बोले तो दिल का जीवन है हृदय मार्गी है वो हृदय मार्गी धर्म सही महीने में तो हृदय मार्गी होता है लेकिन आज काल बदल गया है इसके कारण ये हृदय मार्गी बहुत रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते ये इसमें ये आज का विज्ञान बहुत समझ अच्छी ढंग से दे सकता है और आप लोग तो करते हैं आप तो पुत्र साहब सभी जाके सबको सत्संग करते हो सबको कितना अच्छा लगता है हुँ? हम्म? लेकिन कल्याण भावना इसी नहीं है कि चलो हम जावे और सबका कल्याण कर दे कल्याण करने से नहीं होता कल्याण तो एक अंदर की स्पंदन है अपने भावना की भावना की स्पंदन है उसका कारण चलता है और कल्याण किससे होता है कि जिस जिन्होंने कल्याण स्वरूप अपना सुख पाया है खुद का खुद का जो अविनाशी है उसका स्वाद है उसका लक्ष्य है उसकी प्रतीति है उसकी श्रद्धा है और उसका ज्ञान है ऐसा वो कल्याण स्वरूप पाए हुए सभी सत्पुरुष हो तो वैसे सत्पुरुषों से जो जहाँ जहाँ जाते हैं सबको ये विज्ञान समझाते हैं वो सभी ये विज्ञान से सभी को जिसको जिसका प्रकार होगा उसको मिल जाता है लाभ अच्छी ढंग से लाभ मिल जाता है और खुद जितनी उनकी प्रकृति की विकास गति है विकास है उसके लिए वो ले लेता है सभी को सर का काम लगता है सभी को पढ़ा अनपढ़ कोई भी हो जैसे जाते हैं आप जाते गांव में जाते हो तो गांव में उस ढंग से ही बात करते हैं ना सब जगह जाते हैं दादा जी ये कलयुग में नेगेटिविटी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी को कैसे समझे हम क्या नेगेटिविटी ये काल का प्रकार है आज ये काल, नेगेटिविटी किसको आज का आज का काल का स्वरूप जो युग प्रमाण से कलयुग बोला जाता है उसके कारण ये है और सभी की भावना तो यही है कि अभी इतना विज्ञान विकास ही किया है तो इतना विज्ञान में हमें कुछ अच्छा समय तो दिखना पड़े नहीं कलयुग बोलते अंधकार है लेकिन कुछ गोल्डन युग आएगा ऐसा मानते हैं साउथ इंडिया में बहुत मानते हैं कहीं के हिंदू धर्मी लोग सभी लोग मानते हैं गोल्डन युग आएगा आ गया है कोई लोग को आ भी गया है ये बोलते हैं सर गोल्डन युग बोलते हैं उसको यही गोल्डन युग है कि कलयुग में ऐसा ज्ञान अवतार प्रकट होना जो ज्ञान अवतार के स्वरूप से हमें ईसाई सीधी समझ जो बहुत गहन है बहुत बहुत सभी काल के लिए गहन है और गुह्य है ऐसी सादी भाषा में हमें मिली है वो समझ हम सब महात्माओं के माध्यम से आप लोगों के आपता पुत्रों के माध्यम से हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं और सब इकट्ठे होते हैं सत्संग में उसमें जो जो आए हैं उसको लाभ मिल जाता है हम्म, लाभ मिल जाता है क्या बोलते हाँ जी हाँ जी ये प्रकृति के प्रभाव से ये नेगेटिविटी जो है वो जीव नेगेटिविटी में चला जाता है प्रकृति के प्रभाव से ना प्रकृति के प्रभाव से नेगेटिविटी नहीं है कभी भी नहीं होगी प्रकृति तो स्वभाव से सहज ही है ओ। लेकिन आज का काल का जो प्रकार है कलयुग का उसमें हमें मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि जो सह प्रकृति स्वभाव से सहज है उसमें हमारी प्रकृति के गुणों के कारण आज का काल के अनुसार के हम जी नहीं पाते जीना बहुत चाहते हैं भाई सभी का प्रयत्न है तो इसमें ये विज्ञान बहुत समझ देता है अब सभी बोलते हैं कि हमें प्रामाणिक रहना है सच्चा बोलना है झूठ नहीं बोलना है चोरी नहीं करनी है सभी लोग बोलते हैं लेकिन कोई ने ऐसा नहीं बोला जो दादा भगवान ने बताया कि तू जा मंदिर में बोल कृष्ण भगवान आप बोलते हैं कि मेरे बिना तो कुछ नहीं होता सब मैं ही हूँ और चिंता मत कर तू तो कोई ऐसा कृष्ण भगवान बोलने वाला नहीं मिला कि भगवान कितना सालों से मैं आपकी भक्ति करते हुए पूजा करूँ तो आराधना करता हूँ फिर भी मुझे चिंता हो ही जाती है क्या करूँ मैं तो आप ऐसा कुछ कर दो कि मुझे चिंता ना हो गई ऐसा इतना बताया भगवान ने हम्म? ब्रह्मचर्य मुझे पालने की बहुत इच्छा है लेकिन मुझे क्या करे ये काल के मुझे आज आज के काल में बहुत इच्छा है लेकिन इच्छा अनुसार नहीं होता तो अपना पवन पुत्र हनुमान जी को करो भक्ति आराधना करो क्या आप कुछ कर दो कि ऐसा हम आपका सर के हो जाओ <laughs> हाँ? बाल ब्रह्मचारी <laughs> हाँ? એટલે આ ब्रह्मचर्य सामान्य तौर से ये कलयुग में जो चौथा द्वापर युग में समझा गया था वो आजकल रहा नहीं लेकिन वो आगे से चलिए ऐसे चलता रहता है कि शरीर से किया हुआ ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य मानते हैं वो गलत नहीं है वो सच्चा है सच्चा है शरीर है तो वो तो होना ही है लेकिन वो उसका वो कारण बनना चाहिए कि अंतर में हमारा ब्रह्म की चर्या और उसमें हमारी निष्ठा हो जाए पक्की वो कारण बनना चाहिए उसका तो उसका कार्य ब्रह्मचर्य जो है अति शुद्ध ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं अंतर से वो खुला होता जाता है अच्छा। खुला और कारण बिना तो परिणाम आता नहीं है परिणाम अच्छा तो ऐसा दादा भगवान ने कई रास्ते बताए हैं हम्म? जैनों के लिए बोला देरा सिर में जाओ कहाँ भी जाओ बताए हैं और दादा भगवान वो तो जीवंत प्रतिमा थे कौन सी प्रतिमा जीवंत वितरागता की विज्ञान स्वरूप पूरा विज्ञान स्वरूप आज का विज्ञान का युग में ऐसी प्रतिमा हमें मिले जिससे हमें जो हमारे साथ बात करे हमारे साथ सभी मानव सर का व्यवहार हो उसका उसमें हमें मालूम पड़े कि कैसे उन्हें किसी के साथ भेद ही नहीं लगता कुछ बकता ही नहीं ये भेद वाली पूरी भेद वाली दुनिया में किसी को भेद लगता ही नहीं तो ऐसा इसीलिए सब यही ढूंढते हैं सबकी इच्छा तो चाहना यही है कि ए, बिल्कुल ये भेद मिट जावे हमेरा और भेद कहाँ है तो कि ये चर्म चक्षु की दृष्टि से है कौन कैसा चर्म चक्षु की दृष्टि से है उसमें ये समझ हमेरी सही ढंग से प्रस्तापित होती जाती जाए आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस होते होते होते ये आज्ञाधर्म में तभी ये चर्म चक्षु के सभी भेद निकल जाते हैं और हमें में लघुता आती है लघुता आती है वैसे ही हमें ये विज्ञान समझ में आसानी से धीमे धीमे आता जाता है विज्ञान तो विज्ञान समझने के लिए ये व्यवहार दृष्टि है चर्म चक्षु है और उससे सारा जीवन चल रहा है उसमें दादा भगवान ने बहुत अच्छा समझाया है कि तू कहाँ भी जा तो नीचा मन से बता व्यवहार कर तो व्यवहार में ही बोल देते हैं सब लोग भाई तो नीचा मन से काम करो लेकिन बुद्धि से बोलते हैं वो लोग बुद्धि से यही बात समझ में आई तो समझ में जितनी जितनी जिसको आई उसको वो सही ढंग से बनता रहता है समझे ना लघु लघु भाव ये पॉजिटिविटी जो है हम देखते हैं सब जगह तो नीची दृष्टि रखना मैं दृष्टि को नहीं नीचे ढालना है अंदर से हमें ऐसा रहना है अंदर से समझे ना तो उसको नीची दृष्टि लघु भाव बोलते हैं लघु भाव तो लघु भाव दृष्टि में है और सारा क्रम मार्ग में धर्म की सभी आराधनाओं का मार्गों में ये लघु भाव वो तो सभी जगह होता है सारा विश्व में है भारत में सभी जगह ह्यूमिलिटी अपने इंग्लिश में बोलते हैं तो लघु भाव भाई छोटापन रखो जितना बड़ापन हुआ मार पड़ेगा इतना तो तो सब बोलते हैं लेकिन वो व्यवहार से है लौकिक भाषा से है असल अलौकिक भाषा में भगवान की भाषा में लघु भाव वो अंतर का भाव है अंतर से आंखों तो दिखाई देगी उसका धर्म धर्म से रहेगी आंखों लेकिन हमें उसके साथ नहीं रहना है इसी ढंग से ये बात है तो ये विज्ञान हमें आज नेगेटिव वाला सारा जीवन सारा महीना पॉजिटिव होता ही है नहीं होता ही ना लेकिन उसका अंश बहुत कम है जैसी प्रकृति उसमें ज़्यादा होता है ज़्यादा कम ज़्यादा कम तो होता ही रहता है तो वो कैसे डेवलप होगी पॉजिटिविटी कैसे समझ से समझ, समझ कि हम जो है तो क्या एक गॉसिप है हमारा जीवन ये क्या कल्पना है ये क्या कोई इमेजिनेशन है हम्म, ये क्या उसकी कल्पना होए तो मुझे ऐसा होता है ऐसा अंदर जलपन अजंपा होता रहे ऐसा है जीवन मेरा नहीं ये जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता हम्म, अगर भगवान है तो जीवन ऐसा कैसा हो सकता है तो इसीलिए भगवान और भगवान की सारी स्थिति सभी प्रमाणों से शरीर के साथ होते हुए ये समझ ले तो आहिस्ते आहिस्ते आता है सभी को सभी को आता है उसका पुण्य का योग होना जरूर है वो भाव भी होना जरूर है वो सब किसी के हाथ में नहीं है उसका जैसा कर्म लाया उसके हिसाब से है लेकिन ऐसा एक मार्ग मिला हमें आज ये बहुत बड़ी बात है मार्ग मिला मार्ग दिखाने वाले मिले कि जिसके कारण हमारे जो भी कर्म है तो कर्म आहिस्ते आहिस्ते हड़ू होते जाते हैं और उससे हमें छुटकारा पाते जाते हैं ऐसे मिले खुद स्व स्वयं मिले आज कलयुग में जो असंभव है और उन्हीं उन्हीं को एक ज्ञान अवतार बताया ज्ञान अवतार ज्ञान अवतार वही भगवत अवतार है बड़ा सबसे बड़ा तो वो सभी ढंगों से उनका भगवत गुणों खिले खुले हो गए हैं और वो भगवत गुणों से ही सबको सही समझ आज की भाषा में कलयुग की भाषा में अच्छी ढंग से दे देते हैं कलयुग की भाषा में लोग सत्युग का जीवन जीने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं कम नहीं करते हैं हुँ? हम्म? लेकिन जी नहीं पाता कोई तो उसमें ये विज्ञान समझ से हमें आसानी से जीने का राह मिल जाता है उसका मार्ग मिलता है हुँ? हम्म? मार्ग मिला तो मार्ग में लग गए लेकिन नामधारी जो है अपना उसको पॉजिटिविटी में कैसे लाना और कोई लाने की बात नहीं है समझने की बात है वो समझने की हाँ तो विज्ञान ही समझ दे सकता है सही विज्ञान होना चाहिए सही विज्ञान महीना जो शरीर है वो हम नहीं है और शरीर है और शरीर तो है वो हकीकत है वो हकीकत से हमें स्वीकार करना पड़ेगा लेकिन कौन सी हकीकत वो विनाशी हकीकत है और हम अविनाशी है भगवान विनाशी होते ही नहीं कभी भगवान अविनाशी है तो मनुष्य का मानव का भगवान साथे का साथ वाला सीधा संबंध जो है प्रस्तापित होता है ये विज्ञान से बड़ी अच्छी ढंग से मालूम हो जाता है सभी धर्मों में वो तो वही प्रयत्न है ना भगवान को ढूंढना भगवान भगवान लेकिन कौन भगवान क्या भगवान ये तो कोई जानते ही नहीं ये भगवान का स्वरूप तो वैसा तो शब्द तो सभी है आत्मा है सोल है सब कुछ है बड़े बड़े विचारक लोग है पश्चिमी दुनिया में अपनी बाजू है सब जगह है तो वही प्रश्न बड़ा रहा है प्रश्न बड़ा रहा है और सारा इतना बड़ा जैन दर्शन है सारा जैन दर्शन में शास्त्र में बोल देते सुख होता है किसको होता है तो के बिना आत्मा तो सुख होता ही नहीं किसी को और सुख होता है दुख भी आता है उसके पीछे तो बिना आत्मा तो नहीं सुख दुख वो आत्मा बोलते हैं कौन सा आत्मा किसी जगह उसकी कई समझ नहीं है शास्त्रों में कहाँ भी नहीं है लेकिन जिसकी जिसकी प्रकृति प्रोग्रेसिव हुई है उसको बुद्धि से समझ में आ जाता है इससे बुद्धि से सब शास्त्र बनते रहते हैं उसमें हरकत वो तो होने ही वाले हैं समाज में सभी समय में सभी को साधन तो जरूर है ही होना ही है साधन बिना कोई किस चलता ही नहीं ये जीवन ही सा, पूरा साधन वाला है लेकिन साधन क्या है कि हमें एक नक्की करना है कि एक काम है नक्की किया वो और उसके हिसाब से चला तो साधन सही होता है तो नक्की करना ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे भगवान में ढूंढना है मैं मुझे मेरा जीवन है ऐसा एक काल में ऐसा जाता है तो ये जीवन तो शरीर से कैसा भी जावे लेकिन मुझे ऐसे ऐसा जीना है तो उसमें जीने की रीत मिलती है हर एक को अंदर से जीने की अंतर से अंतर से जीने की और अंतर के और बताए ना सभी रूपी दृश्य है सभी अंतकरण पूरा हम्म लाइन में कितना अच्छा बताया कोई रात की लाइन में पूजो पूजो पूछो आप जो जय सच्चिदानंद दादाजी हाँ? कौन या कौ, कौन हाँ तू बोल जय सच्चिदानंद बोल बोलो दादाजी अपना हम ये कल्याण की बात करते हैं हाँ। कल्याण कल्याण शब्द जो हम बोलते हैं हाँ। कि जगत का कल्याण हो ऐसा हाँ, हाँ. तो कल्याण शब्द का अर्थ क्या होता है सुख और शांति तो समझ में आता है कल्याण क्या है कि हमें कल्याण मार्ग और कल्याण क्या स्वरूप है समझ ली है और हमें प्राप्त हुई है इसीलिए हमें भावना खुली होती है अंदर ही ये भावना कभी खुली होती ही नहीं किसी को कल्याण भावना खुली होना बहुत बड़ी बात है वो तो कभी नहीं होती शरीर आज का जीवन में तो वो शक्य नहीं है इसीलिए जिन्होंने अपना कल्याण कल्याण अर्थात शरीर से शरीर के बंधनों से मुक्ति पाते और पाया मुक्ति पा ली है और ऐसा मुक्त जीवन जी रहे हैं वो कल्याण मार्गी है तो उसको भावना व्यक्त होती है कि मुझे मैंने मेरा सुख मुझे मिला है खुद का जो कायम का है પરમેનન્ટ હે કોણ છે આવો આ ભાઈ તું જગ્યા કરજે પાછળ બેસી જા તમે લોકો ખસો પાછળ તમે લોકો ખસો થોડું અંદર અંદર જતા રહેજો જગ્યા तो कल्याण भावना है कल्याण भावना होनी ऐसा आज लोगों की भावना नहीं ऐसी नहीं है लेकिन वो बिना दृष्टि से है बिना समझ से है तो क्या करे ऐसी चलती है उसमें वो हवा में तीर मारो तो किसको लगता है ऐसा हो जाता है हवा में तीर मारो तो किसको लगेगा उसमें तो पाप लगता नहीं कोई बोलते हैं आज का जीवन ऐसा हो गया है तो कल्याण भावना है भावना वो क्रिया नहीं है वो कल्याण बनता रहता है वो भावना का परिणाम से बनता रहता है तो इसी भावना से सभी फिरते हैं तू फिरती है जब किसी को बात करती है तेरी बहन पानी सहेली कोई किसी को भी हो तो उसको इतनी समझ मिल जाती है समझ मिली ऐसी जितनी समझ मिली वो सब कल्याण है समझ समझ बहुत बड़ा शब्द है समझ कौन सी समझ कि हम कौन हैं और हम कौन नहीं है ये खुद को ऐसा तो किसी को प्रश्न होता ही नहीं और विचार भी नहीं उद्भवता विचका विचार नहीं नहीं उद्भवता उसमें किसी को तो ये विज्ञान ये सारी सोच और विचार शक्ति खुली करता है आज का मन सब इतना ब्लंट हो गया है सभी का बहुत सभी शरीर की फैकल्टी है ना क्रियाएँ तो इसमें साइंस से अंदर प्राण आता है प्राण तो प्राण है तो तो जीवन है ही ना हम्म? वो कौन सा प्राण समझ प्राण समझ समझ अंडरस्टैंडिंग समझ ये समझ वही प्राण है साहब हम्म? महात्माओं के लिए तो है ही वो तो आनंद से रहते हैं सब हम्म? समझी ना निरंतर कल्याण की भावना करते रहे हाँ, बस वो कल्याण बोलना जरूर नहीं अंदर से दिल से चलता ही रहता है वो तो चलते रहता है सब जाते हैं तो हमें बोलना नहीं पड़ता कल्याण का शब्द ही नहीं बोलते हैं लेकिन इसी भाव से जाते हैं ना कि चलो इसको कुछ चाहना है तो बात करो समझे ना वो देख लेना चाहिए उसे ऐसे होते नहीं होते नहीं। सभी लोग को जरूर है ये तो कोई भी हो सभी को ये जरूर है कि सुख और शांति हमें कैसी हमें मिले शांति शब्द शांत शब्द बहुत बड़ा है आज ये बाहर के सुख साधन देने वाले साधनों कितने हैं बाहर तो उसको तो शांति होनी चाहिए लेकिन मैक्सिमम अशांति है आज बाहर के सुख के साधनों में कितने सुख के साधन हैं ये अमेरिका से बहन आई पूछो ना उसको कितने सुख के साधन है अमेरिका में बहुत सुख है ना ना भी बोलना और हाँ भी बोलना <laughs> हाँ, समझे समझ गए ना આપણા અમૃતભાઈ દીકરીને જમાઈ हाँ बोलिए साहब दादाजी ऐसे निमेशान निमेशानंद जी आप तो पुत्र साहब बोलते हैं हाँ बोलो दादा ऐसे हम मा, हम माने कि जैन शास्त्र के हिसाब से दो प्रकार के मनुष्य में जीव है मनुष्य के अलावा भी हाँ केवल मनुष्य में नहीं दादाजी दो प्रकार के जीव है हम्म, ऐसे शास्त्रों में कहा हम्म। एक है कंप्लीट कुदरत के आश्रित हम्म, और एक है निराश्रित हम्म। जो आश्रित है वो हमेशा के लिए सुख का अनुभव करते रहते हैं भले वो सुख आश्रित का हो और एक है जो निराश्रित है हम्म। उनको सुख ढूंढना पड़ता है और सुख दूर चला जाता है और सुख तो दादाजी समझना मुझे ये है कि ये निराश्रित मतलब हम जो स्वतंत्र हुए इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं नहीं दुरुपयोग नहीं होता दुरुपयोग होता नहीं लेकिन हमें सारा आगे का भूतकाल में जो हमें माल इकट्ठा किया था जीवन जीने का शरीर से जीने का वो माल इकट्ठा किया था वो माल अभी शरीर से उससे शरीर बना है उससे हम जी रहे हैं शरीर से और वो माल तो बीच में महात्मा हो तो भी सबको आएगा सत्पुरुष हो सभी को आएगा ज्ञानी पुरुष को भी आएगा किसी को नहीं छोड़ता वो लेकिन वहाँ कैसे जीना ये बड़ी बड़ी बहुत अहम बात है क्या तो आश्रित और निराश्रित बताया आपने जरूर आसरा सब लोग सोचते हैं लेकिन क्या बोलते हैं कि अंधेरे में प्रकाश सोते हैं ढूंढते हैं ऐसे ये बात हो जाती है तो प्रकाश तो क्या है कि हमें कहीं कुछ हमारे बाबत में हम कैसे सुखी हुए अंतर से हमें कैसी शांति रहे हमारा जीवन शांतिपूर्ण क्लेश बिना वाला ऐसा जावे अच्छी ढंग से ऐसा सभी की चाहना है भावना तो है अंदर लेकिन रास्ता नहीं मिलता रास्ता मिलता नहीं है ये विज्ञान से रास्ता देता है और आप जहाँ जहाँ जाते हो बात करते हो तो जो पुण्य जिसका जो प्रकार है जिसका ढूंढने का भले लेकिन आसरा सुन ढूंढते हैं ना तो आसरा ढूंढते हैं तो निराश्रित तो है ही लेकिन क्या करे दृष्टि जैसी दृष्टि ऐसा वो तो ये बात है वो कैसा है कि भगवान तो ढूंढता है और उसका मुख भगवान से विरुद्ध में है और भगवान भगवान करता रहता है तो भगवान कब मिले उसको तो उसकी भावना उसकी अंदर की इच्छा समझे ना तो ऐसी उसकी वृत्ति भगवान के तरफ जावे तो आश्रित बन जाता है वो ऐसे आश्रित आश्रित महीना सेफ और सिक्योर्ड प्रोटेक्टेड पूरा रक्षण मिलता है आश्रित वाले को और निराश्रित तो खुद अपना रक्षण है उसको तो समझता जाए ऐसा चलता रहता है हम्म? तो आश्रित निराश्रित तो बहुत बड़ा अच्छा शब्द है दादा भगवान ने बताया और महात्माओं तो समझ गए कि अभी दादा भगवान से हमें ज्ञान प्राप्त है ज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त है उसमें हमें जो पांच आज्ञा मिली है पांच आज्ञा वो पांच आज्ञा का जो दादा भगवान खुद है वही पद हमें दे दिया है तो वो पद हो जाने के लिए हमें पांच आज्ञा से जीना है अभी वो सब आश्रितपणा आ गया आश्रितपणा ना आधीन आधीन बच्चा माँ बाप के अधीन रहता है तो बच्चा बिल्कुल बिना भय चलता रहता है लेकिन अरे माँ बाप कौन मैं हूँ ऐसा करता है जो लड़का तो वो भी कैसा जाता है तो आप जानते होंगे समझे न ऐसा ये व्यवहार में भी सब लौकिक समझ तो है जरूर है लेकिन आश्रित शब्द बहुत बड़ा बड़ा आश्रित आश्रित मतलब अधीन होना अधीन होना और मानव जीवन मनुष्य है तो मनुष्य मनुष्यों की दुनिया में मनुष्य मनुष्य के साथ रहता है सभी व्यवहारों में उसमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ आसरा से जीवे तो भी मनुष्य समाज खुशी बहुत सुखी हो जाता है उसको शांति मिलती है हुँ? हम्म? और उसका जीवन शांतिपूर्ण अच्छी ढंग से जाता है उसमें ज्ञान की जरूर नहीं है समझ की जरूरत वैसे जीवन जीने का प्रकार कि कैसा जीवन जिया जाए तो आश्रित शब्द बड़ा अच्छा है निराश्रित महीना नास्तिक नहीं क्या बताया लेकिन वो हवा में अपने को ढूंढता रहता है हाँ, वो तो हवा है वो भी जानता नहीं है हुँ? हम्म, हवा है वो भी जानता नहीं है और वैक्यूम तो कभी होता ही नहीं शून्य अवकाश तो कहाँ होता ही नहीं कभी कहाँ कहाँ भी नहीं होता सारा ब्रह्मांड में नहीं है समझे ना लेकिन आज का विज्ञान में ये सब बात तो है उसमें ये भगवान और मानव शरीर उस संबंध का दोनों का संबंध और रिलेशन उसके संबंध में मानव को भगवान प्राप्ति करने के लिए कैसा जीना है वो विज्ञान बहुत काम आता है धर्म विज्ञान में ही धर्म धर्म बिना विज्ञान वाला धर्म नहीं कहा जाता और विज्ञान बिना धर्म वाला विज्ञान नहीं कहा जाता हमेशा ही बात है और दासदास भगवान ने तो सामान्य तो से बहुत सादी भाषा में समझाया पदम जी આપણે શું સાહેબ કેલા ડૉક્ટર पदमजी डॉक्टर पद्मनाथन मन्नाभन और शेषन जी उसको बोलता सुनते रहते होंगे उनको बताया होगा आपने कि भाई हिंदी भाषा में सत्संग चल रहा है तो यहाँ गुजरात में बैठे बैठे बड़ौदा सिटी बिटवीन अहमदाबाद बॉम्बे यहाँ से आप वहाँ देखो आज का विज्ञान कितना हमें लाभ देता है तो आज्ञा विज्ञान का लाभ इस ढंग से राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए सही समझ के लिए हमारे पास हमें मिले उसका उपयोग तो तो बहुत काम करता है वो तो बहुत काम करता है यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में सुनते हैं सभी जगह विश्व में सभी जगह सुनते हैं कितनी जगह जाता है यहाँ सुनते हैं सब फाइव सेवेंटी फाइव व्यूअर्स ऐसा जो ऐसा हम बैठे ऐसा देखने वाले हो तो आप खुद यहाँ हाजिर है इस ढंग से कर, सत्संग करते हो इस ढंग से सब देख लेते हैं सब जगह तो आज टेक्नोलॉजी का इतना तो लाभ मिला जिसको खुद सुखी होने चाहते हैं और किसी को दुख उनसे न होवे ऐसा जीना चाहता है उसके लिए विज्ञान बहुत कम में आता है बहुत कम में आता है इसीलिए ये पांच आज्ञा धर्म हमें सही महीने में और आसानी से एकदम ये कलयुग में सत्युग समझना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है वो एकदम इजी आसान कर दिया है ये पांच फंडामेंटल सेंटेंसेस के अनुसार अनुसार मेरा जीवन जाना वो तो जिसके पास दृष्टि है उसके साथ बराबर है लेकिन यही पांच फंडामेंटल सेंटेंस जिसको जिसकी इंटेलेक्ट वो राइट अंडरस्टैंडिंग जुड़ने वाली होती है उसको भी ये उसका बुद्धि से भी लाभ मिल सकता है उसे बुद्धि से हाँ बुद्धि से मिल सकता है हम्म, बुद्धि से महीना उसका जीवन अच्छा जाएगा और आगे प्रगति होगी बढ़ता जाएगा आगे और ज्ञानी का संजोग मिल जाएगा उसको ऐसा बात है और ज्ञानी का संजोग बोलते हैं तो किसी को प्रश्न होवे कि बार बार ज्ञानी ज्ञानी क्यों बोलते हैं कि क्या सब हम खुद से कुछ नहीं हो सकता ये बात है ये बात है इसीलिए दादा भगवान ने एक बहुत बड़ा भगवान का सूत्र बताया कि भगवान की भाषा क्या है तो जैसी मनुष्यों की भाषा है मानव भाषा में मानव व्यवहार है समाज है सब कुछ है और उसकी सारी कायदा पोती है उसकी शब्द की पोथी है जिसको डिक्शनरी बोलते हैं और गुजरा हिंदी में क्या बोले उसको शब्दकोश शब्दकोश है ऐसी भगवान की भी डिक्शनरी और शब्द शब्दकोश है लेकिन भगवान की डिक्शनरी में दादा भगवान ने बताया उसका अनुभव के प्रमाण से और ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष सभी लोग यही अनुभव से बताते रहते हैं हमेशा कि क्या है कि मैं करता हूँ आप करते हो और सभी करते हैं वो भगवान की डिक्शनरी में कभी था ही नहीं तो आज होगा ना अगर था तो आज होगा वो कभी भी नहीं था कभी भी एट एनी पॉइंट टाइम ये बात इतनी समझ ले तो बुद्धिशाली भी समझ सकता है समझे भगवान की शब्द कोश में मैं करता हूँ आप करते हैं सभी करते हैं वो है होता हुआ ही नहीं था क्या बताया हुआ ही नहीं था ये बात ये दादा भगवान के अद्भुत ये कलयुग में सत्यु के वचनों है उनका अनुभव के प्रमाण से गहरा अनुभव हम्म? ये शरीर ने सिखाया हुआ अनुभव और मानव शरीर तो बहुत अच्छा है सभी को सिखा रहता है सभी को सिखाता है लेकिन शरीर आज के जीवन में सीखने वाला और सीखने की वृत्ति से एटीट्यूड से जिसका शरीर है उसको लाभ होता ही जाता है वो प्रगति करता रहता है हम्म? प्रगति सीधी नहीं होती लेकिन एक काल में प्रगति तो उसका ग्राफ ऊपर जाता है प्रगति होती जाती है तो आगे उसको संजोग सकमशंसी मिल जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है हम्म, कौन बोल हम बोलते हैं मुझे शुद्धात्मा का सतत स्मरण हो अखंड निधि ध्यासन हो और अखंड सानिध्य हो तो स्मरण निधि ध्यासन और सानिध्य तो कैसे माने नहीं नहीं हमें हमें हमारी ये भावना प्रोजेक्ट करते हैं हम हाँ। हम तो हो गए खुद लेकिन ये शरीर को भी ऐसा हो जाना है समझ लीजिए इसीलिए ये एक प्रकार की हमेरी सद्भावना खुली होती है सत्य प्राप्त हो गया हमें सत्य शुद्ध आत्मा और इसीलिए वो बनता ही रहता है और ये बताया कि चरण विधि जो है उसमें सारा प्रयोग ही दिया है पूरा प्रयोग है वो तो वो प्रयोग इस इस ढंग से बोले तो व्यवहार और निश्चय रिलेटिव और रियल उस वेदांकन है दोनों का वो सही ढंग से रहे बाय प्रैक्टिस आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस से आता रहे इसके कारण और ऐसा आहिस्ते आहिस्ते होते होते हमेरा अंदर से स्वभाव प्रकृति का जो सहज है वो आहिस्ते आहिस्ते साहजिकता को प्राप्त करता जाता है प्रकृति साहजिकता को प्राप्त करती है वो जन्म से सहज स्वाभाविक स्वाभाविक थी लेकिन कर्म के अनुसार हम अस्वाभाविक हो गए थे असहज हो गए थे और जीवन भी ऐसा जाता था उसमें ये भावना सब हमें करती है समझे चरण विधि बहुत काम करती है चरण विधि वो क्रिया नहीं है वो जिन्होंने सत पाया है वो पाया हुआ सब सभी के लिए वो सत और असत दोनों का भेदांकन हो गया है और अलग ही है दोनों हमेशा के लिए वो पक्का हो जाने के लिए वो चरण विधि है वो आवश्यक है आवश्यक એટલે अर्थात वो भेदांकन हो, हो, हो जाने के पश्चात सारा जीवन बाकी का शरीर से जाता है उसमें सारा वेदांकन हमें सहज स्वरूप से रहा करे सहज स्वरूप से इसके कारण वो हमें दिन में देने दी और उपयोग पूर्वक जितनी जितनी भी बने हो उपयोग रखने आते हो सही टाइम सही समय और बिल्कुल उपयोग पूर्वक बोल बैठ जाना वो पूरा इतना समय पूरा उपयोग तो नहीं रह सकता है लेकिन वो अंश में से आते आते आते बढ़ता जाता है उपयोग शुद्ध उपयोग जिसको बोलता है शुद्ध उपयोग हम्म? अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूँ और क्या नाम आपका स्वाति बहन है वो अपनी निश्चय व्यवहार चरण विधि बोलती है और हम वो स्वाति बहन जो सुनती है हम उनको सही ढंग से जानते हैं बोलती है सुनते है और हम जानते हैं ऐसा आहिस्ते आहिस्ते खुला होता जाता है हुँ? हम्म? ज्ञानी पुरुष का जैसा व्यवहार है ना ऐसा बनता जाता है तो सुनीता बहन आप तो सुनती होगी अब अहमदाबाद में हाँ हाँ क्या सुनीता ने कैसा आपका अनुभव कैसा हुआ तिवरी बोलो साहब हाँ? हाँ। मैं पूछू पहले हाँ बोलो धीरू भाई गाठा नहीं पूछते हैं साहब आप आपने बताया कि कर्ता भाव और मैं करता हूँ हम करते हैं सभी करते हैं वो भगवान की डिक्शनरी में मैं करता हूँ तू करता है वे वो करते हैं हाँ सभी करते हैं वो, वो, वो, हाँ, उसमें आ गया सब तो ये वो भगवान की डिक्शनरी में था ही नहीं था ही नहीं था ही नहीं ही ही बहुत अगत्य का है तो अभी मेरे को एक तो काम का हो गया ऐसा प्रश्न ये होता है कि जब चौथे आर्य में जब तीर्थंकरों की हाजिरी थी तभी वो जो है वो ज्ञान दीक्षा वगैरह जो उसको दिया जाता था तो वो वो लोग किस ढंग से उस वो कैसे डेवलप होते जाते होंगे जो वो तो बगैर करता उनका अहंकार हाँ। जो कर्ता भाव में था वो उन्हीं उनकी निष्ठा जो सत ढूंढने की थी और सत निष्ठा ढूंढने की थी कि सत निष्ठा स्वरूप हो जाए सत प्राप्त हो सब निष्ठा स्वरूप हो जाए उसके कारण वो क्रिया से चलते रहते थे और उसका देह उसको उसका पूरा साथ देता था उसको हाँ। पूरा साथ था उसको देह का साथ महीना मन वचन और व्यवहार तीनों की यूनिटी स्वरूप से बरोबर है उसमें कोई भेदभाव नहीं ऐसा वो काल में था कर्म का प्रकार ही ऐसा था शरीर का प्रकार भी ऐसा था बरोबर और कलयुग में ऐसा प्रकार रहा नहीं हम्म। इसलिए ऐसे ज्ञान पुरुष ऐसे है धर्म तो धर्म के आराधना है अभी फिर भी ऐसे सही धर्म का मार्ग बिता दिखाने वाले कोई मिले तो आज ये खुले हो गए और बिल्कुल सादे वेश में बिल्कुल सादे वेश में देखो कोई बच्चे से भी छोटा मिले तो उनसे खुला हुआ इनसे कई लोगों को कितने लोगों को आज सभी मिलके टोटल करें तो दो चार पाँच लाख हो जाएंगे सभी फैमिली बहन सबको मिलके और ज्ञान प्राप्त अमुख लाख हो सकते हैं बोलो जिसको विज़न प्राप्त है कि मैं कौन हूँ और ये शरीर क्या है और दोनों का पूरा विभाजन हो जाता है दोनों के गुणों के अनुसार विनाशी के विनाशी और अविनाशी अविनाशी दोनों स्पष्टता से और इससे मालूम हो जाता है कि यहाँ ये कॉपर है ये हम्म, रूपा है ये चांदी है और साथ में सोना भी है हम्म। तो सोना उसको अलग करने के लिए उसका गुण और बाकी के गुण जो कभी भी सोना नहीं हो पाते उनके गुण उनके प्रकार से बोल देते हैं ये तो दागिना की बात कर ली सोना समझने के लिए तो ये भगवान सोना है और शरीर हम सोना नहीं वो है इसीलिए हमें सोना ढूंढते रहते हैं सोना तो सभी को पसंद है हुँ? हम्म? और ये हीरा बोलते हैं आज हीरा में बहुत कीमत लगाते हैं और हीरा डायमंड आज आज के विज्ञान में सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल जत्था हो गया हुआ कार्बन है कार्बन ठोस और हीरा निकलता है निकाल के ऊपर लाते हैं फिर भी वो बिल्कुल हार्ड है वो बहुत हार्ड है सब जानते हैं फिर भी वो उसको तोड़ा जाता है क्यों कि वहाँ भी वो आकाश तत्व हीरा जीव है एक प्रकार का जीव है लेकिन उसका प्रकार है सभी जो जो दिखो सब जीव सृष्टि सभी जगह है बिल्कुल लेकिन उसमें मनुष्य मनुष्य रूप से जो जो इतना विकास वाला जीव हुआ उसको आज के दुनिया में ये विज्ञान की समझ से बहुत समझने जरूर है सभी को हुँ? हम्म? और आप हम देख रहे हैं सब समय तो सब देखते हैं आज रोज रोज क्या क्या समझ में आता है हुँ? हम्म? जागृत चौगरदम कभी सभी बाजू देखो तो भाई भाई भाई बात बात यही बात आती है ज़्यादा दूसरी बात आती नहीं जिसको सुख शांति मिले ऐसे तो आता नहीं कुछ ऐसा लिख लेते पर उससे कोई फायदा नहीं होता इसको उसको क्रैम करो मुखपाट कर लो कुछ नहीं होता उससे और गड़बड़ हो जाती है ज़्यादा बहुत गड़बड़ हो जाती है अरे किया लेकिन मुझे तो रहा नहीं जाता क्या करूँ क्या तो क्या किया जाए तो तुझे रहा जाए शांति से अंदर जीवन जाए हम्म? तो आपको आपका अनुभव तिड़ी का बोलो साहब अब मेरे निमे आपता पुत्र निमेशानंद जी नेमीचंद जी हाँ माफ करो और साथ साथ में कौन था आपके थे हमारा साम्राजी थे ना साम्राज्य साम्राजी हाँ, <laughs> और ये तो हमेशा होते हैं हाँ, हाँ? और कौन कौन थे आप गए थे एक दो तीन अच्छा तिवरी तिवरी आपको याद होगा निमिशानंद जी कि आज दस बारह साल हो ही होगी मेरे ख्याल से जब अपने वहाँ थे तब उत्तम भाई साहब ने बताया <clears throat> और ललित जी ने बताया कि कांग्रेस का एक थोड़ा आके दो तीन दिन के चले गए भाजपा वाले आ जगह के चले गए कहीं ऐसे एयरफोर्स वाले आके थोड़ा शांति के लिए एक दो ना आ जाते हैं सब आए गए लेकिन यहाँ से जोधपुर है ना जोधपुर से पाकिस्तान तो बॉर्डर है तो वहाँ से उसका धर्म का एक डेलीगेशन था पाकिस्तान का धर्म वो आया था ऐसा बताया था आपको क्या ख्याल होगा किसी को हाँ मुझे बताया था वो <clears throat> तो वो डेलीगेशन में कई लोग आए थे देखे सुनना था कि जो चलो कहाँ है तो ढूंढ के तिवरी चले गए <clears throat> तिवरी चले गए और तिवरी देखा फिरे उसको सब आ, सब सम्मान दिया सब कुछ किया और फिरे तो हिंदी के सभी दादा भगवान के सूत्र पढ़े उन्होंने अरे खु, इतने खुश हो गए अरे ये तो सभी को एक कलयुग में बोलो इंसान का क्या फिल्म का लाइन है इंसान बदल गया <laughs> कैसी हो गई भगवान <laughs> तो ये उसको इंसान बना देता है इंसानियत उसमें प्रस्तापित करता है ये सब सूत्र है सबके वो लोग बहुत खुश हो गए थे तो बोले करे ये तो हमने सुना था लेकिन देखा तो सही बरोबर तो फैक्ट है हकीकत है लेकिन हमें एक इच्छा है कि आपको वहाँ उर्दू जानने वाला हो तो अगर उर्दू में हमें कर दे तो हम हमारे वहाँ ले जाएंगे हम सब रखेंगे वहाँ जगह <laughs> ऐसा बोला था वो लोग दस बारह चौदह साल हो गए क्या उस हम्म? ऐसा बोले थे डेलीगेशन आया था उसका बोलो कीर्ति आप, आप, के, के, के, आप गए हो तिवरी दोनों हाँ अच्छा वेरी गुड हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा जरूर जाना चाहिए कभी हाँ आप लोग आए हो तो ऐसा ही चाहे उसको ललित भाई होता ही है कोई भी है वहाँ जाओ तो तो हमेशा खुला होता है वहाँ पे मुस्लिमों का अधिवेशन था ऐसा था ना कुछ था मुस्लिमों का बहुत बड़ा अधिवेशन हाँ, हाँ, हाँ, से बात बात सच्ची बताई वो अधिवेशन के कारण आए थे हाँ, और आके पी यहाँ मालूम हो गया था फिर उनको ये पता चला और कि ये सारी जो सूत्र पढ़े तो कि भाई ये हमें दो और हम उनको उर्दू करके या तो आप करके दो और हम लेके जाए हाँ। तो दादाजी हमने ट्राई की थी वो दिल्ली वाले रायचंद जी जैन हाँ, उनके हाँ। जो मिसिस है हाँ, वो उर्दू के बहुत वो है उर्दू ऐसे जानने वाली हो तो हरकत नहीं कर सकते हो लेकिन उसका पीछे कांटेक्ट नहीं है नहीं ललित जी के पास नहीं फिर वो रायचंद जी के मिसिस की वो डेलीगेशन आया था धर्म का तो उसका कुछ कांटेक्ट रखा है नहीं नहीं होगा नहीं है नहीं वो तो सहज बन गया वो ऐसी सहज बस भी बातें बनती जाती है कल्याण वैसा ही होता जाता है सहज फॉलोअप रखना चाहिए हाँ, हाँ। <laughs> ऐसी बात है तो आज तो सुनीता जी हाजिर नहीं है क्या हाजिर है अरे बोलो ना सुनीता जी सुनती नहीं है <laughs> पदम जी અને આપણા ઓ બોમ્બે વાળા કોણ નાટા વાળા छोटा दादाजी एक तो- बात पूछूं हाँ बोलो जैसे ज्ञान मैंने पाया हाँ अब अब रोज बरोज जो जीवन व्यवहार चल रहा है हम- हमारा हाँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है हाँ। कभी कभी जब मेरे हाथ में मेरे बस में नहीं होता है वो संजोग तो मुझे वो संजोग में जो भी निमित बने वो मुझे फाइल दिखाई देती है और ज्ञानी पुरुष को निरंतर आज्ञा दृष्टि से फाइल स्वरूप दिखाई देता है जब मुझे अड़चन आती है तब मुझे लगता है ये फाइल है बिल्कुल बहुत सही बात है ये, ये दोनों जब मैं मैं मुश्किल में आ जाता हूँ मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता है मुझे कोई ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता है तो मुझे ऐसा लगता कि हे दादा भगवान मुझे सहाय करो इसका संभव से निकाल कर सकूँ मतलब मेरा नहीं उनका संभव से निकाल कर सकूँ और एक है दादाजी कि ज्ञानी पुरुष को हमेशा के लिए भीतर भीतर बाहर से तो जैसे है वैसे ही दिखाई देते जैसे मैं हूँ वैसे ही दिखाई देते फिर भी आज्ञा दृष्टि से आप भीतर फ्रेश रहते हो और मैं भीतर से डिस्टर्ब हो जाता हूं नहीं आप डिस्टर्ब नहीं होते आपको ओ, भाषित होता है कि भाई मैं डिस्टर्ब हुआ हकीकत में नहीं होते आप हकीकत में नहीं होते क्यों कि आपका वेदांकन हो गया है खुद का ऐसा तो है लेकिन बीच में हमेरा जो मन वचन काया है उसका जो सारा अंदर हिसाब है हिसाब महीना अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबल भाग जो है वो हमें ऐसा अलग नहीं रहने देता इसीलिए मुझे मेरे मुझे बासित होता है बासित मेरा, हिंदी मेरा, में क्या बोले उसको भ्रमित ना भ्रमित नहीं आभास होता है आभास होता है आभास आभास सही है आभास होता है आभास परिणाम अलग है और तन्मय परिणाम अलग है क्या कहें आभास परिणाम अलग होता है लेकिन वो बीच वाला पद है उसमें सफरिंग पार्ट है ना रखा वो सफरिंग पार्ट वाला भाग है वो तो और कुछ नहीं है जी मेरा लेकिन हम शुद्धात्मा है तो हमारे शुद्धात्मा में उसे मालूम हो जाता है कि सफरिंग वाला भाग ऊंचा नीचा ऐसा होता है सब कुछ होता है लेकिन इतना स्वाद नहीं आता वो इतना फर्क पड़ जाता है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है ग्रेजुअली जैसा समझ में आता है तो एक पद हुए हिंदी का वो पुष्पाबेन का क्या नाम है भाई पावन पद तुम्हारे पावन पद पर आपके पास है हाँ अभी सोमवार को आपको हिंदी रखनी पड़ेगी <laughs> बिहारी आनंद जी हाँ रखे चाहे दस वाग्या दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हमारे जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो सा तुम्हारा प्रेरक बल हो सा तुम्हारा चढ़े चले हम रुके न क्षण भर बड़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संकल्प हमारा पानी अमृत पीकर दादा की पानी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण पियारा बिखरा देंगे प्राण पियारा नई दिशाए नई जगाए नई दिशाए जगाए नई हवा हम फैलाए नई हवा हम फैलाए विकल्पी इस दुनिया को हम भी कल्प इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाए कल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत इस विशाला विज्ञान विशाला दुनिया का अध्यात्म केंद्र दुनिया का अध्यात्म केंद्र भोजा संयम प्राप्त स्वधारा तुम्हारे पावन पथ पर लगा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा राह में चलते कदम खुदा के राह में चलते कदम खुदा के हो मन वच काया की सुधी हो मन वच काया प्रतिक्रमण की सुभावना से प्रतिक्रमण की सुभावना से अतिक्रमण हम धोते जाए દર્પણ હો બેદાગી આત્મ દર્પણ હો બેદાગી હો યહ સચ પુરુષાત સુહાના હો યહ સચ પુરુષાત સુહાના परमेष्टि भगवन सन्मुख पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख अपना ही परमात्मा न्यारा अपना ही परमात्मा न्यारा ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो चारित्र व्रत बन जाए चारित्र व्रत बन जाए केवल आत्मा में ही केवल आत्मा में उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए वरदान तुम्हारा मिल जाए वरदान तुम्हारा श्रद्धा की जलहल ज्योति से श्रद्धा की जलहल ज्योति से चाली व्यवहार हमारा निकाली व्यवहार हमारा बड़े चले हम रुके न क्षण भर बड़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संग સંકલ્પ હમારા ઓ દૃઢ સંકલ્પ હમારા દર્શન શુદ્ધિ જ્ઞાન વિશુદ્ધિ દર્શન શુદ્ધિ જ્ઞાન વિશુદ્ધિ ચારિત્ર સિદ્ધ હો જાય ચારિત્ર त्रय निज त्रिवेणी तपसे रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे भावी ही मिट जाए भावी ही मिट जाए रिलेटिव रियल देखे God. Relative real देखेगा केवल आत्म स्वरूप हमारा केवल आत्म स्वरूप हमारा अग्न अनादि रात बीतेगी अग्न अनादि रात बीतेगी होगा चार गति में उजाला होगा चार गति में उजाला दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन નિમેશ આનંદજી મુંબઈથી કોઈ ડોલી છે એનું આવ્યું છે આશીર્વાદ માટે કઈ કઈ ડોલી હા કઈ છે એવી આવીએ છોકરી દીકરી એક છે દાદાજી આપના આશીર્વાદથી સગાઈ થઈ ગઈ છે દાદાજી આશીર્વાદ આપો અહીંયા આવતી રહે આશીર્વાદની સગાઈથી આપણે બધા મહાત્માના તો અનુભવ થાય કોઈને કહે આ તમારાથી મારે આ કામ થયું પણ હવે આ મહાત્માઓ બહુ પાકા થઈ ગયા સ્વીકાર એવા છે નહીં મારે મારે તે બધું ધર્મ કરી નાખવાનું કે છે બધા સમજી ગયેલા છે હા ઓકે ઓકે એ તો વાંધો એ તો બધું ભૂતકા ગયો ગયો ગયો એના નહીં બાબાનું બધી સરસ રીતે સરસ રીતે જીવન આ બધું સમજી ગઈ નહીં એવી હે પોતે સુખી થયા બીજાને સુખી કરશે ના બહુ સારું સ્પેશિયલ આવી એમ ટ્રેનમાં આવ્યા અચ્છા હા સારું ભલે ભલે સારું ચાલો બહુ સારું વાંધો નહીં બહુ સારું ક્યાં છે મુંબઈ રહું છું મોહનભાઈ આપણે ગળા ગળા આપણા આપણે ને ત્યાં બહુ સારું ચાલો જાઓ લે લઈ જા એટલે દાદા ભગવાન યશનામ કર્મ એટલા માટે કહ્યું કે એ અનામી પુરુષ શું એ અનામી પુરુષ હોય તો જ એમના મન વચન કાયા નામરૂપી દેહ જે હોય અને નામરૂપી દેહ બધા માટે બધાને યશ પ્રાપ્ત કરાવે એવું એને યશ બધાને પ્રાપ્ત થાય કશું કરતા ના હોય ને તો એ કંઈક દાદા તમારાથી આમ થયું તેમ થયું આ બધું ચાલ્યા જ કરે અને દાદા સમજતા હોય બોલે ખરા આશીર્વાદ બધું હોય પણ હવે આ તો મારા કર્યા થયું તો બધું થઈ રહ્યું બધું ના ના કશું નથી એટલે એક્સેપ્ટ ના કરે એ કશું કશું એક્સેપ્ટ ના કરે તારે એવું યશ નામ કર્મ આખું એક પ્રકારનું એક કર્મ સ્વરૂપે કામ કરી રહ્યું હોય છે હાજરી હોય દેહની કે ના હોય એટલે એવી રીતે બહુ મોટું બહુ મોટું કર્મ છે ઘણું મોટું કર્મ છે તે આપણે મહાત્માઓને આજ્ઞાધર્મથી આ ધીમે ધીમે ધીમે આપણે અંદરથી એનો વિકાસ થતો જતો જાય છે બધાને થાય એ તો સમજ્યું યશનામ કર્મ હમ તું તો સમજી ગઈ છું બહુ સારું લખતા શીખી ગઈ એ <laughs> મેગેઝિનમાં આપ્યું છે ને ગુજરાતીમાં બહુ સારું આવ્યું છે આ વખતે એ મેગેઝિન એ મેગેઝિન એટલે આખા વર્લ્ડમાં છે એ તો એનું સાઇડ ચેક શું છે શું કઈ સાઇડ કે છે મને તો એનું ખબર નહીં ટેકનિકલ હે એટલે એને શું કહેવાય એટલે ઈમેલ કહેવાય શું કહેવાય હા એટલે એથી બધાને તમે એન્ટર કરી શકો એટલે બારી છે એક જાતની એટલે અમેરિકા બેઠા બેઠા અહીં જોઈ લેવાય તમારાથી અને પૂછાય ખરા એમાંથી તમે અને અહીંથી તમને સોલ્યુશન મળશે પૂછશે સમજ આપશે બધા રિસર્ચ સેન્ટરમાંથી સમજાયું ને તમે જોઈ લેજો બધા મળી જાય તો અને તમને એને ક્યાં જોઈએ ને અને તારે ઇંગ્લિશ ચોપડીઓ જોઈએ છે ને તો કેલમપુરી જાઓ તો આપ કેલમપુરી જાઓ વહાં રહો થોડા એક દિન દો દિન જો ઠીક લાગે તો રહો ને જાયંગે કબ बोलो ये है साहब मेरे दो तीन आत्मा उतरे आओ आओ हाँ मजा तो आज पदम जी और आपके परिवार से सुनाथ जी का सुनीता जी का तो हमेशा भाव रहता है लेकिन वो तो समझ गई कि हम तो अभी आप गुजराती में सत्संग करो हम पूछेंगे हिंदी में लेकिन आप गुजराती में बोलो अभी हाँ जोधपुर वाली अपनी सुनीता तिवरी तिवरी और जोधपुर वाले सोमचंद हाँ, जी है वहाँ सुनते होंगे तो आज ये शुभ शुरुआत हुई है और ये चालू रहेगी हम यहाँ कोई संजोगों के साथ बाहर होंगे होंगे तो अब अब तो, उत्तर तो भी कोई करते ही रहेंगे हमेशा सोमवार के दिन ये अवश्य आपका पूरा बिल्कुल पूरा सहयोग बस हाँ तो आपको जो जो पूछना हो तो आप तो पुत्रों के ऊपर भेज देना और यहाँ आ जावे तो उसके हिसाब से सत्संग भी होता रहेगा कि क्या समझ की आज्ञाधर्म के जीवन में अभी पाया तो है लेकिन लगता है कि ऐसा हुए नहीं तो ये बीच में क्या आता है वो समझ के लिए सब पूछते रहना आप हमेशा तो सत्संग निकलता रहेगा जैसी जैसी आपकी पूछा और पूछना होता है वैसा वैसा सत्संग सही ढंग से ऐसा निकलता जाता है हमेशा और सत्संग हमेशा प्रश्न आता है और उसका उत्तर जाता है प्रश्न प्रश्नकार कोई भी ढंग से कर सकता है उसमें उसको कोई बाधा पेड़ नहीं होती है कि कोई भी प्रकार का लेकिन उसको उत्तर मिलता है उसकी समझ उसको मिल जाती है हम्म? तो आज बिहारी आनंद जी ये हमारा हिंदी भाषी सत्संग आज का शनिवार का शू और क्या है बोलो हाँ हरीश भाई साहब सूचना करो જય સચ્ચિદાનંદ હવે પછીનો દાદાજીનો સત્સંગ બુધવારે એસએમએસ વોટ્સએપથી જણાવવામાં આવશે બુધવાર જણાવવામાં આવશે દાદાજી ગુરુવારે આપનો સંજોગ જોઈને દાદાજી ગુરુવારે રાખવો કે નો રાખવો કાલે કહી દઈશું એટલે એટલે જણાવવામાં આવશે કરો બુધવારનો બહેનોનો રેગ્યુલર સત્સંગ અને ગુરુવારને સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ બાબુ કાકાના હોલમાં રહેશે આજની પ્રસાદીના નિમંત્રકો છે ભૂપેન્દ્રભાઈ વસાવા જગદીશભાઈ જોશી હિંમતનગર સમીરભાઈ જોશી બર્થડે નિમિત્તે બ્રિજ પટેલ એનિવર્સરી નિમિત્તે રમેશભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ સુરત વિઠ્ઠલભાઈ રામજીભાઈ પટેલ સુરત મનુભાઈ પટેલ બર્થડે નિમિત્તે ઉલ્પા પ્રિતેશ ઉપાધ્યાય પૂના દિનેશભાઈ ભટ્ટની દીકરી જમાય આ સાત જણા તરફથી આજની પ્રસાદીની વ્યવસ્થા રાખેલી છે જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી અસીમ જયકાર બોલાવો दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भग जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના સદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भग ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ